जाए तो फिर वो जीवन में नहीं जाना चाहता ये दूसरी स्थिति है प्रथम स्थिति है वह दुख और दुख के स्वरूप सुख और सुख के स्वरूप को जानता है जो जो जानने के साधन थे जिन जिन बातों कर्मों ज्ञान कर्म उपासना के माध्यम से व्यक्ति दुख और दुख के साधनों को सुख और सुख के साधनों को जान सकता था उन उपकरणों उस संपत्ति को उस सामर्थ्य को ये व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता और यदि यहां तक पहुंचता है जैसे तैसे करके कि सुख और सुख साधनों का पता चल गया दुख और दुख साधनों का पता चल गया शब्दार्थ संबंध को जान करके व्यक्ति उसी दुख में जकड़ा रहता दुखों से नहीं छूट पा रहा आश्चर्य होता है ये मनुष्य क्यों उत्पन्न हुआ था और उत्पन्न हो भी गया था तो इसने साधनों को जाना क्यों नहीं और जान लिया था तो उनका प्रयोग क्यों नहीं करता अत्यंत आश्चर्य होता पहले की स्थितियां सबके साथ जुड़ी हुई है कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी उन्नति चाहता है और उन्नति के भाग चार विभागों में भागी सुख को प्राप्त करूं सुख के साधनों को प्राप्त करूं दुख को हटा दूं दुख के साधनों को हटा दूं ये इच्छुक है व्यक्ति एक स्थिति है कि इनके स्वरूप को जानने के साधन उन साधनों को बाधकों को ये व्यक्ति जानने का उचित प्रयास नहीं करता यद्यपि बुद्धिमान विद्वान ऋषि ये मानते हैं कि मनुष्य का आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला है ये निर्णय है ऋषियों का स्त्री हो पुरुष हो मनुष्य का शरीर धारण जिसने किया वह सत्य और असत्य को जान सकता है कोई असंभव बात नहीं है यदि वो उचित प्रयास करता है नियमों का पालन करता है व्यवहार में ठीक रहता है ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो ये निश्चित बात है कि वो सत्या सत्य को जान सकता है और सत्या सत्य को जानने की सीमा क्या है ऐसा कहना चाहिए मोक्ष प्राप्ति पर्यंत ईश्वर साक्षात्कार पर्यंत जो उपलब्धि है उसको प्रत्येक शरीर धारी कर सकता एक बहुत मंद बुद्धि व्यक्ति होते हैं जन्म जन्मांत के संस्कार भी इतने अच्छे नहीं होते ये कहा जा सकता है कि वे इस जन्म में हो सकता है मुक्ति तक न पहुंचे तो अगले जन्म में पहुंच जाएंगे वो पर इस जन्म में भी आप देख पाएंगे कि वही व्यक्ति यदि वो माता पिता फिर आचार्य फिर समाज और स्वयं जो प्रसाद प्रसाद करता है व्यक्ति वो इसी जन्म में बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेगा एक जन्म मान के चलोगे ये जो सोलह संस्कार किए जाते हैं इन संस्कारों के आधार पर व्यक्ति कितना आगे बढ़ता है इसलिए ये सिद्धांत ऋषियों रक्षा शूद्रो ब्राह्मण ताम हेती ब्राह्मण शूद्र ताम ये सिद्धांत रक्षा ये वो शूद्र के घर में उत्पन्न हो गया कल्पना करो मान वही व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है ये स्वीकार कर लिया और एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो गया वो व्यक्ति शूद्र बन जाता है इतना आकाश बचाल जैसा अंतर है इन आधारों पर व्यक्ति दोनों पक्षों में वह महान बन सकता है और वही व्यक्ति साधारण व्यक्ति भी नहीं बनता सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में जो संकेत दिया लगभग शब्दावली है भाव है उनका हठता दुराग्रह अनेक प्रयोजन और अविद्या आदि के कारण झूठ में जुट जाता है ये रोग व्यापक है वहीं से नहीं आज तक मैं नहीं इतने दिनों में कोई व्यक्ति पूर्ण सत्यग्राही नहीं देखा पूर्ण सत्यग्राही का मतलब यह है खुले मैदान पूरे हृदय से जिसका जीना मरना सत्या सत्य को जानने के लिए लगा हुआ हो और तत्काल सत्य को माने असत्य को छोड़ देवे ऐसा व्यक्ति ऊट में रहा हो कोई आज हो एक भी व्यक्ति नहीं आया एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुआ इतना अभाव है चलो आप ये जितने विचारी पढ़ते हैं इनकी अच्छी योग्यता हो पढ़ाते भी उपदेश भी देते हैं संस्था चलाते हैं इतनी योग्यता बढ़ जाती फिर भी वो व्यक्ति सत्यग्राही नहीं होता पूर्ण सत्यग्राही की बात है आंशिक रूप में मन निषेध नहीं कर रहा उसने पचास प्रति किया होगा साठ प्रति किया होगा उतना तो है अभाव नहीं है पर मेरा संकेत उससे है कि जहां तक उसकी बुद्धि काम करती है और जो उसको बात समझ में आती है वो जो सत्य आता है प्रमाण से सिद्ध होता है उसके ग्रहण करने में पीछे नहीं हटता हूं भले गिरता उठता रहे वर्षों तक सत्य को ग्रहण करने में पीछे नहीं हटता हूं चाहे जो कुछ हो नहीं हटता असत्य के छोड़ने पीछे नहीं हटता ये अलग विषय है गंभीर झूठ सत्य के सूक्ष्म फल है वो मन मन स्थिति को सुधारने के लिए लगा बीस वर्ष हो गए वो गिरता है उठता कहता मैं दोष वक्त परदारे सु देखूंगा और धन को मैं ढेले के समान समझूंगा आदि ये सिद्धांत पर वो मन से गिरता है कभी समझता है कभी नहीं समझता पर पीछे नहीं हटता अपने से समझौता नहीं करता कि मैं ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं और किसी भी मूल्य पर उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो अब ये व्यक्ति भले ही कह सारे हेमंत सत्याग्रह आई हूं दिखता हुआ दिवालिया निकले आवाज और कहता मैं सत्याग्रह आई ये सत्याग्रह आई है आश्चर्य होता है कोई भी व्यक्ति ये कहना नहीं चाहता मैं सत्याग्रह आई नहीं हूं या ये भी कहने के लिए कम इतिहास है मत तो पांच प्रतिशत टकराई हूं कम से कम ये न्याय तो यही कहे हूं भाई मैं तो बीस प्रतिशत कराई हूं आगे तो अस्सी परसेंट मैं नहीं ग्रहण करता सीधी बात कहोगे और आगे मैं प्रयासशील हूं तब भी अच्छा लगेगा नहीं मैं सत्य कराई हूं कहां सत्य कराई है प्रत्येक व्यक्ति देखे कि वास्तविकता क्या है और ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर सकता है मनुष्य आत्मा सत्या सत्य को जानने वाला आप आत्मी क्या करके देख लो आप इन्हीं उलझनों में पड़े हुए देखेंगे अपने आप या नहीं देखेंगे उलझन आपके सामने यही और इन उलझनों में इतनी दुनिया भर की उलझने आपने स्वयं इकट्ठी कर रखी है ये भी रोग भयंकर है उलझने दोनों प्रकार की होती समाज राजा परिवार आदि ये भी उलझनों के कारण होते हैं अभाव नहीं पर स्वयं व्यक्ति उलझने का कारण स्वयं बना हुआ है और प्राय कुछ स्थलों को छोड़ दो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिसमें बाहर के बाधक अति भयंकर होते हैं और बहुत से स्थल ऐसे होते हैं वो सत्तर प्रतिशत कहीं साठ प्रतिशत आगे बढ़ तो कहीं अस्सी प्रतिशत ये व्यक्ति अपना विरोधी स्वयं है आत्मनिरीक्षण कर लो गीता का जो है आत्मा ही आत्मा का बंधुर आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ये बात आपने पढ़ी होगी ये ऐसे ही थोड़ा ही कह दिया आत्मा ही आत्मा का बंधुर आत्मा ही आत्मा का शत्रु है अब व्यक्ति स्वयं इसका अध्ययन करे तो पता रहेगा कि ये व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का अत्यंत विरोधी रोड़ा बना हुआ अभ्यास पड़ा उसका अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे के सत्य को भी असत्य करने के लिए टूट पड़ता है ये व्यापक है इसमें यह भी अध्ययन आता है देखने में कि अपने असत्य को मिटाने के लिए और गुणों को दिखाने की चेष्टा वही न करने वाला जैसे श्लोक मंगाया करते हैं आप होगा याद है ना याद कुछ सज्जनों का क्या कार्य है और दुर्जनों का क्या कार्य अपने दोष गुण को कैसे तोड़ते हैं दुर्जन और दूसरे के गुण दुर्जन और सज्जन कैसे तोड़ते हैं जिसका विचारने का ढंग ये है अपने छोटे से छोटे दोस्त को वो पहाड़ के समान देख रहा है और दूसरे के गुणों को बहुत बड़ा मान उनको ग्रहण करने के लिए तैयार है ऐसे उल्टा व्यक्ति क्या करता है इसका उल्टा कर लो क्या करोगे दूसरे के छोटे छोटे देखो बाढ़ के समान दिखाना चाहता है और अपने बाढ़ के समान दोषों को थोड़ा सा बताना चाहेगा चाहेगा नहीं तो बताना ही चाहिए आप अपना बताएंगे ब्रह्मचारी क्या हाथ है आप इनमें बता सकते हैं सबके सामने क्या डर लगता है आप बताओ क्या आदत है आप दूसरे के दोष देखने का अधिक प्रयास है अपने दोष देखने का आपका बताए ऊंचा बोलो झटा झट बोलो आप आप बताओ अरे हाँ आप बताओ बराबर इस ओर चलेंगे विश्वेश जी हाँ जी उस ओर चलेंगे क्या नाम है आप बताएंगे और आप अच्छा, आप कहां खड़े होकर ये देखो वही अब एक बात और आती है यहीं पर वो सत्याग्रही जो मैंने बताया वो यहां आकर के यहां तक तो आप सत्याग्रही है ये सरल है ये आपने मान तो लिया कम से कम मानने में भी जो कई व्यक्ति क्यों मानते हैं ये दूसरे दूसरे मेरी बुराई को देखते ही मान लेते हैं नहीं तो ये कहीं देखो सत्यग्राही बन गए इसलिए मानते अरे कई लोग कहते हैं मैं इसलिए मान रहा हूं लोग मुझे अच्छा बताएंगे देखो अपनी बात को मान लिया कुछ इसलिए मान या नहीं ऐसा अब ऐसा देख पाएंगे आप अब यहां तक तो पहुंच गए कि भाई हम इस स्थिति में पर अब वो जो स्थिति है आज जहां आप हैं ये दोष है ये अच्छा जीवन नहीं है आप जो चल रहे हैं अच्छी स्थिति नहीं है पर उसको आज से ही समाप्त क्यों नहीं कर देते हम ये तो मानते हैं आज उसको समाप्त नहीं कर पाएंगे कोई कर पाएगा कोई आधा कर पाएगा और वो पांच दस वर्ष भी लग सकते हैं ये कोई आपत्ति नहीं है पर उसका अति विरोध करना विपरीत आचरण करके को उखाड़ के फेंकने का प्रयास भी वो आरंभ कर देता तो फिर उसको दोषी नहीं माना जाता उस दृष्टि से ये अपना कर्तव्य के लिए दृष्टि ये दोषी नहीं है दोषी है अपना कर्तव्य की दृष्टि ये दोषी नहीं है ये अपना कर्तव्य कर रहा कौन सा पूर्ण रूपेण अपने दोषों को देखना और दूसरे के गुणों को देखने का प्रयास करना दोष सामने आ जाए तो उनको रोक दो आज से ही उसने आरंभ कर दिया तो वो निश्चित अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं यदि ऐसा नहीं है तो वो नहीं कर रहा अपने कर्तव्य का पालन जब पता चल गया सत्य का अब ने किस बात की है इस देख लेना चाहिए यदि हम सत्याग्रही नहीं है तो उससे हम क्या लाभ लेना चाहते हैं इसको भी देख लेना चाहिए लाभ के लिए करता है व्यक्ति जो कुछ करता है हम पूर्ण सत्याग्रही नहीं आपने मान लिया हम अपने दोषों को ही कम देखते हैं दूसरे के दोषों को अधिक देखते हैं मान लिया आपने स्वीकार कर अब आप दूसरे के दोषों को देखने का प्रयास क्यों करते हैं और अपने दोषों को देखने का पहले प्रयास क्यों नहीं करते इससे क्या लाभ होगा इससे तो समझ लो कम से कम बुद्धि से इतनी बुद्धि दी है ईश्वर ने पर मिथ्याभिमान काल मटोल से प्रमाद अब इंद्रियों के भोगों में पड़ने के कारण आप ऐसा करते हैं इंद्रियों के विषय चाहिए आपको आलस्य प्रमाद चाहिए आपको इसलिए आप करते हैं ऐसा ऐसा क्यों करें परिणाम ये होगा वास्तविक यदि ऐसा व्यक्ति है तो उसको दुख मिलेगा दुख के कारण भी मिलेंगे सुख और सुख के साधन नहीं मिल पाएंगे फिर दुख होगा आपको जिस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं वो सुख तो प्राप्त नहीं होना अपनी गति से क्या हो जाएगा जिस दुख को दूर करना चाहते हैं वो दुख दूर होना नहीं इस गति से अब दोनों ही नहीं होने तो आप ये नहीं क्यों मानते आप मूर्खता से दौड़ क्यों लगाने का गधे की तरह बाहर डोरे खाम का जीवन का मनुष्य रूपेण मृगा का यही तो अर्थ है और क्या गाते हैं आप गाते रहते सुनते रहते गाते रहते सुनते रहते पता नहीं क्या रोग है व्यक्ति के इतना भयंकर ये क्या मनुष्य की बुद्धि है एक और बात सुनो बोला कोई सिखाने वाला नहीं मिला बताने वाला नहीं मिला न माता पिता ऐसे मिले और न समाज ऐसा मिला वो व्यक्ति भी कुछ दया का पात्र है मेरा यदि प्रयोग देखना हो तो मुझे कुछ भी नहीं मिला सारा उल्टा मिला और तब मैंने ये संघर्ष किया वो ज्यो का क्यों किया आज तक मेरे पक्ष वही चलते हैं अज्ञानता विवस्था सावधानी से कोई ऐसा प्रयोग हो सकता है और जो असत्य से धोता है और जो सत्य से धोता है उनमें सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में कभी ननूनत नहीं करनी कभी टाल मटोल नहीं करनी असावधानी से अल्पज्ञता से शीघ्रता से कोई असत्य बात निकलेगी उसको मैं मानता हूं और वो भी दोष है और यहां कोई सिखाने वाला नहीं था कोई बताने वाला नहीं था और यहां हम हमको साधन मिले जो इतने भयंकर अवस्था थी आप जैसे लाख में से एक ब्रह्मचारी ऐसा नहीं मिलेगा जिस स्थिति में मैंने अध्ययन किया वो ठहर जाए लाख में एक भी मिलना हाँ ये तो मैं मानता हूं जिसको ऐसा वैराग्य हो गया वो तो मिल जाए वैराग्यवान ऊंचे वैराग्यवान व्यक्ति को छोड़ के लाख में एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो मैं जैसी स्थिति में पड़ता रहा और जैसे भयंकर अवस्थाओं में कैसी स्थिति रही सारा उसमें मैंने किया आप में लाख में एक नहीं मिलेगा उस वैराग्यवान व्यक्ति को छोड़ दिए अपर वैराग्य ऊंचे वाले नहीं मिलता अब जब ऐसी स्थिति है और पढ़ने पढ़ाने वाले उन्होंने शब्दार्थ संबंध को जान लिया आगे हमने और भयंकर अवस्था देखी इतने पर बता रही है अच्छे पढ़ जाते हैं पढ़ा भी लेते हैं लेख भी लिख लेते हैं पुस्तक स्थिति वही की वे कुत्ते की पूछ की तरह वही संस्कार वही विचार वही प्रवृत्तियां वो उसको उभारता रहता है एक उभारने का नया कारण गया हुआ वो विद्वान बन गया पढ़ाने भी लग गया उपदेश देने लगा लेखक बन गया अब उसका नया अभिमान मिथ्याभिमान और बढ़ गया भयंकर जो पहले नहीं था वो विद्या का शब्दार्थ का संबंध जानने से पहले उसमें वो विद्वान नहीं था ऐसा आपको समझ मार रहा होगा सीधे साधे ब्रह्मचारी गुरुकुलों पढ़ने आते हैं आते हैं जब वो एम भी क्यों न हूं उस समय और कई होते कम है पढ़े देखे उसमें जो आते हैं जो नम्रता होती है उसके अंदर जो अपने को वो बड़ा नहीं मानता कालांतर में यदि उसने मन वचन को एक नहीं बनाया जिम नियम का पालन नहीं किया अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वही व्यक्ति कालांतर में जब वो विद्वान बन जाएगा शास्त्रों का या व्याकरण का या निरुक्त का या वो अति अभिमानी और दूसरे को हराने के लिए दौड़ लगाए मैं बड़ा और दुनिया छोटी अब भाई ये बेकार की बात कहां से लाके खड़ी कर दी भला जो व्यक्ति नहीं जानता था समझता नहीं था वो कैसी स्थिति में था समझने के पश्चात ये वही काम करता है जो कि बेसमझ लोग करते बिना पढ़े लोग जंगल में रहने वाले छोटी छोटी बातों पर झगड़ते ये यही काम करता है इसने क्या भयंकर मूर्खता कर दी वो जो चाह रहा था मेरी उन्नति हो मेरा दुख हट जाए दुख के स्थान भी हट जाए मैं सुख मेरे उसको वो उसको मिल नहीं रहे पढ़ने पर भी नहीं मिल रहे फिर करोड़पति की ले लो करोड़पति की यही दुर्गति है उस करोड़पति को जीना नहीं आता अरबपति को जीना नहीं आता खाम खाम बेकार बाहर जो रहा उस पहलवान को बलवान को जीना नहीं आ रहा इन राजा महाराजाओं को जीना नहीं आ रहा कहीं दृष्टि डाल दीजिए आप बड़े जबरदस्त शक्तिशाली देश जिनको आप कहते हैं महादुखी और स्वयं दुखी नहीं औरों को दुख दे रहे हैं लगातार इनकी स्थिति यही अभिन्न तेरे से रहते आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी भी दुर्गति होनी निश्चित है दुर्गति के स्तर हो सकते एक अत्यंत दुर्गति एक मध्यम दुर्गति एक कम दुर्गति अंतर पड़ेगा जैसा जैसा व्यक्ति का जीवन है उसका धर्म आचरण है उसकी उपासना है उसका ज्ञान विज्ञान है परोपकार है उसकी मात्रा जितनी बढ़ती जाएगी उतना व्यक्ति का स्तर अच्छा बढ़ता जाएगा उतना उतना और उसकी मात्रा जो घटती जाती है व्यवहार काल में नहीं आती विद्या उतना उसका स्तर गिरता चला जाता है व्यवहार काल में नहीं आती विद्या तो स्तर गिरता चला जाता है और बहुत खराब अति खराब भी हो सकता है और यहां तक खराब होने की स्थिति है सन्यासी बन करके भी वो फेर करे समझ आके के उसी मन जाके पढ़ सकता ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं यहां आपके साथ ये सारी बातें संबद्ध है या नहीं है कोई जीवन एक है हमारा एक जैसा जीवन जीवात्मा एक जैसे ज्ञानेन्द्रियां इंद्रिया एक जैसी सूर्य सुंदरी एक जैसे आप और हमारे सबके साथ ये चीजें संपत्त है कोई अछूता नहीं है आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम यही निकलेंगे आप आपको और सुनाता हूं पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ भी गया अच्छी योग्यता गई आप आप देख पाएंगे वो दूसरे से मिलके रहना नहीं चाहता उसको मिलकर रहना आया ही नहीं या वो सीखना ही नहीं चाहता जीवन भर भले ही अकेला बैठा रहे बीवी के साथ मिलकर रहना चाहते एक सीधे शब्दों में मैं कहूं निंदा की दृष्टि से नहीं नाम न ले लो तो भी पता चल जाएगा मेरे साथ लंबे काल तक रहे अच्छे विद्वान अंग उपांग पढ़े बहुत अच्छे बोलने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति जब कभी भी दूसरे से जो व्यवहार होता था तो उनमें उत्तेजना आ जाती झगड़े जैसी भावना उभर के आती थी एक साथ द्वेष उत्पन्न हो जाता था दूसरे के साथ किन्हीं कारणों से अब वो मैं उनसे कहता था आपको ये पता है आप इतने विद्वान हैं आजकल आपने अंग पढ़े हैं उपांग पढ़े हैं सब कुछ पढ़ा है विद्वान भी बन गया सब कुछ हो गया मैंने कहा आपको व्यास वासी की एक पंक्ति समझ में नहीं आई आपको क्या समझ में क्या है पंक्ति बता दो अहिंसा के लिए सर्वदा सर्वथा सर्वदा सर्वप्राणी नाम अनविद्रोह है अनविद्रोह सर्वथा सर्वदा सर्वप्राणी मैंने कहा यह पंक्ति आपको समझ में आई बड़ी श्रद्धा से समझे क्योंकि उन्होंने मेरे प्रयोग देखे थे इसलिए श्रद्धा के सुनते और उस शब्द प्रमाण पर मेरी बातों को अधिक ध्यान से सुनने वाला एक आध व्यक्ति होता हूं मुझे एक है मुझे कुछ कहता हूं बताता हूं निर्णय देता हूं मैंने कहा आपको ये पंक्ति समझ में नहीं आई चाहे आपने छह दर्शन पढ़ दिया हो ये पढ़ लिया हो वो पढ़ लिया हो सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणी नामों ने विद्रोह है आपको ये पंक्ति बिल्कुल समझ में नहीं आई भले ही आपको अभिमान हो अपने विज्ञान यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं जिनमें इतनी भी बात नहीं है वो एक दूसरे से मिलकर नहीं रह सकते उसको क्या था इस पंक्ति समझ में नहीं आ रही तो ऐस है कि मैं ये बुद्धिमान हूं ये बेकार की बातें निरंतर बातें कर क्या जीवन है ये अब सार्वभौमा महावर्त का तो कहां वो आचरण करेगा एक से मिलकर नहीं रह रहा है पढ़ा लिखा सार्वभौमा महावर्ता का पढ़ाए उपदेश देता रहेगा रट्टा लगाता है अपने को विद्वान सिद्ध करने की कोशिश करता है इसलिए याद रखो जीवन का निर्माण है उसको सीख लो बिगड़ता कैसा है उसको सीख लो ये सुधार और बिगाड़ दोनों क्या चीजें हमने भी दुख और दुख के कारणों को जान लिया और सुख और सुख के कारणों को जान लिया और जान के उनका प्रयोग कर दिया तो निश्चित बात है हमारा जीवन बन गया हम सफल हैं और समाज को राष्ट्र को कुछ देन दे सकते हैं यदि ये बात नहीं है तो हम बिल्कुल निर्मित नहीं है हमारा जीवन नहीं बना हमारा जीवन बिगड़ा है और हम समाज को बिगाड़ेंगे इसलिए समण रखो ये जो वेद मंत्र के बातें हैं योगे योगे तव शरण योगे योगे के दो अर्थ योग कहते हैं योग को योग चित्रवृत्ति निरोधा और योग कहते हैं अच्छे कार्यों में लगना अच्छी चीजों को करना उत्तम कार्यों का संपादन करना तो योगे योगे तवस्करम तवस्कर कहते हैं अति बलवान को क्या तव स्तर है जी तव परम द्वितीय विमृति योगाभ्यास में बार बार योगाभ्यास में और अच्छे बार बार उत्तम कर्म करने में उस अति बलवान को हम परमात्मा को चाहते हैं योगे योगे तव स्तर आगे वाजे वाजे हवा महे वाद बल को कहते हैं वाद विज्ञान को कहते हैं वाद युद्ध को कहते हैं युद्ध आंतरिक काम करो उसके साथ और युद्ध बाहर के दोस्तों से भी उस युद्ध में आंतरिक युद्ध में और बाह्य युद्ध में उस तरह तरह परमात्मा को हम चाहते हैं परमात्मा की सहायता मांगते हैं योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामय सखाय इंद्रम पूत सखाय मित्र होकर के मित्र बनते हैं फिर ईश्वर की याचना करते हैं हमारे योग में है ईश्वर आप उपस्थित रहें उत्तम कर्म में उपस्थित रहें और बाहर के शत्रु आंतरिक शत्रु के जाने में आप उपस्थित रहें हमारी सहायता करें उस अपनी रक्षा के लिए परमात्मा का आह्वान करते हैं प्रार्थना करते हैं ऐसे समझना चाहिए अब समय कुछ करो अपने लिए और समाज के लिए करने वालों के लक्षण उनका प्रयास उनकी जिज्ञासा बिल्कुल प्रतिक रहती है संसार स्वामी ब्रजानंद जी के पास में अनेक शीशे पढ़ते थे बहुत पढ़ते थे पढ़े होंगे पर वो महर्षि दानंद की चाल ढाल रीति नीति सूचनी की पता नहीं कैसी उसकी उहा कैसा सत्यग्राही व्यक्ति है ये और ये कहां से कहां जाता है आत्मा वही है हमारा भी हम वहां जा सकते हैं इस जन्म में कोई नहीं जाएगा तो गले में जाएगा ये कोई बात नहीं की जाएंगे सब भला वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते वो इतने सत्यग्राही हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते वास्तव में व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं बना बैठा है आत्मध्ययन करो मैंने बतलाया कहीं कहीं क्षेत्रों को छोड़ दो जहाँ भयंकर राजा है चोर डाकू है आदि आदि वहां तो वो अधिविरोधी होते हैं हमारे हमारी अपेक्षा बहुत का क्षेत्र ऐसा निश्चित है कि अपना विरोधी अपना घातक अपनी उन्नति का अवरोधक ये व्यक्ति स्वयं आत्मा होता है इसको व्यवहार नहीं आता मनुष्यों के साथ व्यवहार करना नहीं आता फिर ईश्वर के साथ भी इसको व्यवहार नहीं आता और अपने आत्मा के साथ भी इसको व्यवहार करना नहीं आता अपने आत्मा के साथ उचित व्यवहार नहीं करता साथी मित्रों के साथ उचित व्यवहार गुरुओं के साथ उचित व्यवहार नहीं करता समाज के साथ उचित व्यवहार नहीं करता फिर ईश्वर के साथ उचित व्यवहार नहीं करता ये व्यक्ति इसलिए नीच से नीच निम्न कोटि का व्यक्ति बन के खड़ा रह जाता और फिर भी इसकी ऐंठ मरने तक जो तो भी वही संस्कार अगले जन्म में और वही अगले जन्म अगले जन्म में आपका मेरा मान के चलो मुक्ति ना हुई हो तो कितने जन्म हो गए होंगे बताओ एक करोड़ एक अरब छियानवे करोड़ कुछ लाख कुछ हजार याद है यानी आपको सच्ची नंबर है ना कितने जन्म हुए होंगे बताओ एक अरब छियानवे करोड़ और लाख कितने हजार कितने उसको याद रखा करो कभी कितने वर्ष हो गए हम मुक्ति से नहीं आए इसने मान के चलो तो कितने जन्म हो गए होंगे भोग भोगते भोगते इस चक्कर में पड़े वहीं पड़े पड़े रहो सुअर पड़ा कीचड़ में उसको वही अच्छा लगेगा ऐसे संस्कार बन गए हारे आ शक्ति तो पड़ा है जन्म में आंख ऐसे बुझी होती है जैसे होती है और वो फिर जाके दूसरे दिन वही तीसरे दिन वही सारा जीवन उन सूरों की तरह जीवन बिताना ही उसका क्या क्या धर्म है तो आप फिर कुछ सोचो और कुछ करो किसने बनाया इसका विचार करते करते व्यक्ति एक परिणाम पर पहुंच जाए कि वास्तव में इस शरीर की रचना मनुष्य नहीं कर सकता जितने भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं उनको उठा करके समाधान ठीक कर लेना चाहिए यदि व्यक्ति लौकिक स्वार्थों से हटकर ऐषणाओं से दूर होकर के भी विचार कर लेंगे समझ में आए कि वास्तविकता यही है इसके ठीक ठीक समझे बिना कोई व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखेगा ईश्वर को स्वीकार करेगा उसकी आज्ञा का पालन करेगा वो ये आशा नहीं रखी जाती आवश्यक रूप में करना या लौकिक प्रभावों से प्रभावित होकर करना या कुछ शब्द प्रमाण के आधार पर कर लेना आंशिक होना एक प्रथित बात है शत प्रतिशत व्यक्ति के मन में ये बात बैठना ये हो नहीं सकता जब तक व्यक्ति इस परिणाम को न निकाले इस शरीर की रचना की बात है मानना समझना उसी प्रकार से इसके साथ संबद्ध पूरे संसार के प्राणियों की भी बात है इसी प्रकार से पूरे सूर्य चंद्र आदि लोक लोकांतरों की बात भी है इस पूरे संसार का मंथन व्यक्ति पक्षपात रहित हो स्वार्थों से दूर हट कृष्णाओं को हटा करके शांत स्थिति बना के नहीं करता वो व्यक्ति कभी भी इस परिणाम पर नहीं पहुंचता कि वास्तव में ये सभी रचना ईश्वर की है और हम इसको अपना मान बैठे हैं इस स्थिति में नहीं पहुंचेगा आप आत्मनिरीक्षण करेंगे चाहे आप अध्यापक वर्ग में हो चाहे विद्यार्थी और चाहे दूसरे लोग आप इस बात पर पहुंच गए होंगे ये आशा बहुत आंशिक हो सकती है अर्थात किसी विशेष समय में उपासना काल में किसी घटना स्थल पर आपके मन में ये बात आई हो आ गई हो कि निश्चित रूपेण सर्वस्व का बनाने वाला स्वामी ईश्वर है सभी आ गई हो झलक परंतु व्यापक रूप से मेरी दृष्टि है आप में किसी में भी ये बात नहीं आई है है ही नहीं शब्दों से कुछ भी आप कहिए जिस व्यक्ति में ये स्थिति आएगी उस व्यक्ति का जीवन नितान परिवर्तित दिखाई देगा वो पहले का जीवन उसका लगभग समाप्त जैसा हो जाएगा पहले की मान्यताएं उसकी क्षीण हो जाएगी ये कसौटियां उसकी बोलचाल की भाषा और उनसे व्यवहार की भाषा लेन देन की बात सभी क्षेत्रों में झलक आएगी नितांत अलग दिखाई देगा ये व्यक्ति जो इस रूप में स्वीकार कर लेता है उदाहरण के रूप में आप देख पाएंगे जो व्यक्ति को अभिमान होता है चाहे वो बल का हो या धन का हो या और कोई भी गुण हो सकता है ये कब उभरते हैं ये इसी स्थिति में उभरते रहते हैं जिस समय व्यक्ति ईश्वर के स्वामित्व को छोड़ और अपने स्वामित्व को स्वीकार करता रहता है अब ये भयंकर रोग कितना भी पढ़ने लिखने पर जो का क्यों रहेगा यदि व्यक्ति इस प्रकार से वो नहीं सोचता अब ये सोचने की विधि विधान पहले तो सिखाने वाले कम है बहुत कम इसको इस रूप में सिखाया जाता हो इसी को प्रमुख माना जाता हो इसी के लिए तनमन धन लगा हुआ हो ऐसा व्यक्ति का मिलना बड़ा कठिन गुरुओं का नहीं मिलते अभाव नहीं कहता मैं कोई ऊट में है जहां कहीं है कोई कोई काल प्राय नहीं मिलते अब आने वाला वर्ग जो पढ़ता पढ़ाता है वो उसी स्तर पर तैयार होता है जैसा पहला वर्ग होता है क्या समझे भंसाई को आज जो अध्यापक हैं गुरु हैं आचार्य हैं जिस स्तर पर वो हैं लगभग उसी स्तर पर आने वाला जो ब्रह्मचारी पढ़ते विद्यार्थी लगभग उसी स्तर के होते हैं उनकी मान्यताएं उनकी चाल ढाल उनका खान पान उनका व्यवहार उन गुरुओं के अनुरूप अथवा ये अलग विषय है किसी का गुरु से आगे बढ़ जाना ये कोई बिरला व्यक्ति होता है गुरु का स्तर छोड़ दे और उसको ये मान के कि ठीक है गुरु में जो गुण थे वो ले लो और शेष को छोड़ो ये शेष ठीक नहीं है ये ईश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है ये ऋषियों की दृष्टि से ठीक नहीं है उसको छोड़ दो और शेष ले लो एक आदमी मिलेगा और होता ऐसा है प्राय उन गुरुओं की वो गतिविधि देख करके व्यक्ति उससे भी अधिक चालाक छली कपड़ी बन जाता उसने जो बातें अपने जीवन में अपनाई थी उनको लेकर के वो उन चीजों को शीघ्र पकड़ता जाता है जो लौकिक ढंग से लौकिक स्वार्थ और नीचे जाने की होती है जैसे सम्मान आदि इनमें जाकर के वो व्यक्ति झुकता रहता है और वो ये मानता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है उसमें इस विद्या को न तो मां सिखाती है आज के एक आदि को छोड़ो न पिता सिखाता है न गुरु जी सिखाते हैं और न फिर समाज इसके ऊपर कोई वातावरण बना रहा हो न राजा इसके साथ है इसलिए ये व्यक्ति इस परंपरा में डर करके जैसा नहीं बनना चाहिए था बन गया दुखी रहना और दुखी करना इस स्थिति में आ गया प्राय जो व्यक्ति पूरे सत्यग्राही होकर इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला चलाने वाला बिगाड़ने वाला ईश्वर ही है हमने जो इसके ऊपर स्वामित्व जमाया ये अत्यंत झूठ है अपना विरोध जो नहीं करता वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता नहीं आप आकर निकल करके देखो आपको मिलेगा कि शरीर का स्वामी आप ईश्वर को मान चुके हो और अपना स्वामी तो हटा सके ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी कई झलक आ जाए कोई दिन भर में एक आदमी बड़े याद है अपनी विद्या अपना बल अपना सौंदर्य अपना कोई गुण ले लो योगाभ्यास के भी क्यों ने कुछ गुण हो उनके आधार पर वो उनका भी स्वामी व्यक्ति बना रहता जैसे हम पढ़ाते हैं हम बोलते हैं हम लेखक हैं हमें इसका ध्यान नहीं रखें कि वास्तव में ये विद्या ये उपदेश की विद्या ये पढ़ाने की विद्या ये आचरण की विद्या ये ईश्वर की ही है ऐसा वो व्यक्ति नहीं मानता तो क्या होता है नहीं मानता हुआ भी एक वो ऐसी स्थिति में रहता है कि मैं जो चल रहा हूं ये ठीक चल रहा हूं संतुष्ट है अपनी अपनी बुद्धि से संतुष्ट है कभी इस गहराई में जाता ही नहीं जाना चाहता ही नहीं और वो जिस वातावरण में रहता है आज उस समाज की स्थिति ऐसी है और उसको ऐसे लोग मिलते भी नहीं जो उसको ये बताएं अच्छा मिल जाए तो वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है ये स्थिति बनी रहती वास्तविकता जो है वो व्यक्ति उसको नहीं पकड़ गया यहां से क्या कि इनका सबका बनाने वाला इनका रक्षक इसे जीवित हैं हम और और तीनों काल में इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर है और अपने आप को स्वामित्व से दूर कर देता है यद्यपि इसमें तर्क उठ सकते उठे उठ उठने खूब उठने उठाओ वास्तविकता अंत में निकलेगी क्या यदि व्यक्ति सत्य ग्राही है तो निश्चित रूप में ये निकलेगी कि हमने ये गलत मान्यता बनाई है ये मान्यता अशुद्ध है असत्य है अपनी मान्यताओं को व्यक्ति जैसे बुरी चीज हानिकारक को ठुकरा देता है ठुकराता है वो कहता मैं और मेरा जो है बेकार की बात था मैं और मेरा ये बहुत हानिकारक है और ये भी अनुभव होता है जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति को जो यहां पहुंचता है आज तक जो मैं और मेरा मानता रहा मैं बहुत दुखी रहा अभिमानी मिथ्याभिमानी रहा बंधन मेरे साथ जुड़े रहे अब मैं इसको जमने नहीं दूंगा वास्तव में बात हमारे जीवन में है उसकी अनुभूति व्यक्ति नहीं कर पाता स्वस्वामी संबंध छोड़ने से जो अनुभूति होती है जो उसको अवकाश मिलता है जो स्वतंत्रता मिलती है जो निर्भयता मिलती है जो ऐसा उसे ऊपर उठने की स्थिति आती है उसको तो वो व्यक्ति अनुभव ही नहीं करके देखता अपने जीवन में जब नहीं देखता तो परिणाम उसको उल्टा ही दिखता रहा और वो इस मान्यता को कभी भी मान के जीवन में के विषय में बताई बातें आचरण के लिए आचार्य के उपदेश द्वारा बताई बातें इन परमाणु के आधार पर बताई बातों को यदि आप कुछों को भी आत्मनिला के नहीं देखेंगे तो समाधि जैसी या मोक्ष जैसी चीजें है ना उन पर विश्वास नहीं सामान्य रहना सामान्य स्तर पर रहना समाज के कारण रहना अभाव नहीं होता विशेष प्रगति उसकी योग में नहीं हो सकती आप यहां देख सकते हैं आपने ये बहुत पढ़ा पढ़ाया कि अहिंसा का पालन करो इक्कीस नहीं इक्काशी प्रकार की हिंसा हिंसा मानी मन पानी और शरीर से मानी अब जो व्यक्ति इनका कुछ भी प्रयोग करके नहीं देखता अहिंसादिकों का वो व्यक्ति अहिंसा को उस रूप में नहीं अपना सकता जैसा अपनाना चाहिए सत्य को भी नहीं अपना सकता किसी को भी इस रूप में नहीं अपना सकता देख सकते हैं पढ़े लिखे अच्छे विद्वान माने जाने वाले लोगों में ये वैर भाव ईशा के कैसे घर के बैठा अच्छा वो उसको ठीक ही मान बैठे यदि कम से कम उसको भयंकर मानते मानते ही रहते और बहिष्कार करते ही रहते तो निश्चित बात है कि वो उसको जीत जाते और वो जीतने की स्थिति में नहीं हो पाती इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमें प्रयोग करके तो देखें इतना सुना इतना पढ़ा कि ईश्वर तो सब कुछ का स्वामी है ये तो हमने पढ़ा पर मन वचन कर्म में एक दिन भी तो प्रयोग नहीं हुआ बीस वर्ष में पंद्रह वर्ष में दस वर्ष अब ध्यान देना है कि क्या मैं अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहा हूं या समाज को धोखा तो नहीं दे रहा हूं क्या बात है क्या इस संसार की जो संपत्ति साधन दिखाई देते इन्हीं के लिए तो उत्पन्न नहीं हुआ हूं इन्हीं धन संपत्ति आदि के कारण मान के कारण ही तो व्यक्ति इन दोषों को पकड़ता है यदि वो ये देख लेता है ये तो वस्तु जितनी भी दिखती है और जो सम्मान मिल रहा है ये ना तो मेरे साथ पहले था कहीं इस जन्म से पहले जब आया हूं मैं तो ये कोई धन संपत्ति मेरे पास नहीं आ रही अभी जाने वाला हूं मैं धन संपत्ति मेरे पास नहीं जानी ये देखता है और जब ये देखता है तो ये जो लौकिक मान और धन इनका कोई मूल्य दिखाई नहीं देता है जिनके कारण से वो अनुचित बातों को पकड़े इनका कोई मूल्य दिखाई नहीं एक तो ईश्वर को सर्वस्व का स्वामी मानने पर आदि मूल ईश्वर को मानने पर सब सत्य विद्या पदार्थों का इस व्यक्ति के ये रोग भयंकर जो लगे हुए हैं ये नहीं रहे और इसमें भी एकदम ये जाने वाले हैं नहीं किसी दिन पढ़ो और पढ़ा दो और ये वहीं पर जाके छूट जाए आपके ऐसी बात तो है बार तो अनुभूति ही नहीं कर पाता व्यक्ति आप पात्र निरीक्षण करके देखो कभी ऐसी अनुभूति हुई हो या एक दिन रही हो जिसमें पूरा मन वचन कर्म से व्यक्ति ने यह स्वीकार किया हो कि इन इंद्रियों का शरीर का और बल का जो भी मेरे पास संपत्ति संपत्ति है उसका इस भूमि का इनका स्वामी ईश्वर को स्वीकार कर लिया हो और अपने अपना स्वामी को हटा दिया हो कोई आप नहीं कर कभी एक दिन रहा वो पूरा अब ये बातें कही सुनी तो मात्र रहती है पढ़ाने तक सीमित रहती है पढ़ा देते हैं कुछ तो जानते नहीं आप ये देखना क्या हम यहीं तक पहुंचने थे हमको तो यहीं तक पहुंचना था क्या पता चलेगा वेद दर्शन के आधार पर हमको यहीं तक नहीं पहुंचना था हमको ये सिद्धांत मान करके और ईश्वर साक्षात्कार में पहुंचना इन मान्यताओं को धरती पर उतार के ईश्वर साक्षात्कार में पहुंचना और जोड़ो तो इसको यूं बढ़ाओ जिससे कि स्वार्थ की प्रवृत्ति कम हो जाए पहुंचना और दूसरे को पहुंचाना ऐसे जोड़ने से ये दोष स्वार्थ का स्वार्थ की प्रवृत्ति जो आती है ये दब जाती है भ्रांति भी नहीं होती हम ये कहते हैं ईश्वर को पाना प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करवाना यहां तक पहुंचना यदि हम यहां तक नहीं पहुंचे तो हमारा जीवन व्यर्थ है आपने पढ़ा है सुना भी होगी उपनिषकारों ने अनेक प्रकरणों पर यह बात कही यह चेत है वेदित तथा मन न चेत यह वेदित महति विनष्टि क्या इन नशे ही कह डाला था क्या या तो ये कहिए कि भाई हम मैं हूं चाहे आप हूं हम बुद्धिमान है वो बुद्धिमान नहीं थे ये ये मानना पड़ेगा यदि वो बुद्धिमान थे उनकी बात सत्य थी तो हमको अपनी बुद्धिमत्ता को मूर्खता समझना चाहिए हटा देना चाहिए ये प्रयोग सदा सामने आते हैं व्यक्ति अपनी बुद्धि से तोड़ता मापता मापदंड करता और उसको अंतिम सिद्धांत मानेगा उसकी तरक के सामने ना ऋषियों की बात टिक पा रही है ना वेद की टिक पा रही सब उठ जाते यहां पर आके खड़ा हो जाता वहां पर विशेष तुलना करनी चाहिए ये पक्षपात रहित सत्यवादी सत्यमानी सत्यकारी लाखों ऋषि आदि ऋषि से कितने हुए उसका गणना हमारे लिए कठिन है कहीं करोड़ों की बात आ जाती है किया इन्होंने ऐसे लिख दिया जाए यदि ये सत्य है तो मन और इस विपरीत मन का कुछ अपना लक्ष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर को जानना जनाना है ये सर्वथा सदा स्वीकार करके जाना ईश्वर ढीला नहीं होने देना यदि आप दिन भर इसके ऊपर तत्पर नहीं रहेंगे इस बात के ऊपर आप नहीं टक सकते नहीं जम सकते याद रखें ये ब्रह्मचारी आशीष जी ने पूछा ये स्थिति जो बताई जाती है ऐसी अपर वैराग्य की या समाधि की स्थिति ये हम दिन भर कैसे रख सकते हैं हमारी दिन भर की स्थिति तो बड़ी डामाडोल रहती है क्यों नहीं चख पाती क्यों नहीं रहती मैंने बतलाया आप यदि दिन भर अनित्य अशुचि दुखनात्म सुख का चित्र बुद्धि में नहीं रखेंगे तो आप एक क्षण पर भी नहीं टक सकते क्या समझे ब्रह्मचारी लोग वैराग्य की स्थिति या पवित्रता की स्थिति मन पर नियंत्रण ईश्वर निधान जैसी स्थिति ये हो ही नहीं सकती जो व्यक्ति प्रातः काल से लेके सोने तक अनित्य को अनित्य नित्य को नित्य प्रलभत अवस्था देखता रहेगा वो दिन भर असूचि में असूचि सूची में सूची ही देखता रहेगा दिन भर परिणाम दुख लौकिक सुखों को भी दुख दुख को दुख तो समझता ही है उसको वैसा ही देखता रहेगा वो व्यक्ति दिन भर फिर चेतन को चेतन जड़ जड़ को जड़ ही देखता रहेगा व्यक्ति तब तो ये स्थिति बनाई रखी जा सकती है वैराग्य की विवेक की और अपवित्रता के जो भाव विचार है उनको हटा रखा जा सकता है यदि आप इस चारों बातों को यदि घर पर नहीं रख सकते तो आप शुद्ध नहीं रह सकते अज्ञान अधर्म से आप दूर नहीं रह सकते कुसंस्कारों से आप दूर नहीं रह सकते राग द्वेष से दूर नहीं रह सकते तीन ऐसाओं से आप नहीं बच सकते असंभव बात है कोई सुन लिया पढ़ लिया पढ़ा दिया लिख लिया और व्यक्ति ने संतोष कर दिया कि हो गया होगा बस उससे वह रोग लग गए अभिमान राग ये चेष्टाएं लग गई अब उनमें वो उतर पर होता है व्यक्ति ये नहीं देखता मैं इन ईश्वर के आदेशों का पालन न करने वाला आप की बात न मानने वाला मोक्ष को सामने रख के न चलने वाला सब कुछ को गौण में मानने वाला व्यक्ति कितना बड़ा दोषी हूं ये नहीं देखता उसको भय इस बात से अधिक रहता है कि मेरे अंदर कोई दोष किसी को दिखाई नहीं दे जाए और फिर आगे रहता मेरे दोस्त को कोई बता नहीं दे दे कितना भयभीत रहता ईश्वर से ईश्वर से कोई भय भयभीत की बात नहीं लक्ष्य से मैं कितनी दूर बैठा हूं यह तो कोई भयभीत की बात नहीं एक बार एक व्यक्ति को उसके सुधार की दृष्टि से मैंने एक बात लिख ली कि मेरी दृष्टि में आप को जो करना था वो तो आप कर नहीं रहे तीन योजनाओं के लिए आप दौड़ शुरू कर उत्प्रेषणा में लेना आपने मुख्य लक्ष्य छोड़ दिया वास्तविकता थी निश्चित है उस व्यक्ति के मन में आग लग गई अब बताओ इसमें क्या उसका भले के लिए तो बात कही गई थी जैसे जैसे व्यक्ति के दोष बताता जाता है कोई वो व्यक्ति उसका शत्रु बनता जाता है और दूसरा उसका शत्रु बन गया फिर वो लड़ाई उन्हीं व्यक्तियों में लड़ाई का रूप बनी रहती है आप याद रखना कोई भी व्यक्ति हो सकता है व्यक्तियों में विचारधारा आती है तनाव भी होता है व्यक्ति अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान है वो ऐसी घटनाएं होती रहती और इन घटनाओं के होने पर उन घटनाओं को लेकर के व्यक्ति जकड़ा जाता है छोड़ता ही नहीं इतना राग द्वेष रहता है और उसको ये पता नहीं यदि किसी एक व्यक्ति से भी राग द्वेष जम गया मन में तो वो जीवन भर की शादी छोड़े नहीं मुझे मन में है ये व्यक्ति बहुत हो रहा है ये व्यक्ति बहुत अन्यायकारी आदि आदि और उसके प्रति बन गया द्वेष अब उसको ये पता नहीं ये द्वेष मुझे कहां ले जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र है अच्छा बुरा कर सकता है और हमारे अधिकार में नहीं और देखने का ढंग ये नहीं है हम उसको समझा सकते हैं नहीं समझता तो उसकी उपेक्षा करते छोड़ देते आगे बढ़ो आप इस उद्देश्य को लेकर चलने वाला व्यक्ति तो आपने बहुत कथाएं सुनी होंगी महर्षि के वो अपने भयंकर घातकों का भी भला चाहता है ये तो बढ़ा होगा उपदेश में कह दिया जाता पर आपने कितनी गति की ये नहीं करते पता इसको देखना भूल जाता है ब्रह्मचारी अपने जीवन में देख सकते हैं सारी बातों को जीवन कोई नई घटना ही नहीं एक एक बात को देखिए उसका प्रयोग करके देखिए जिस समय आप ये देखेंगे कि ये बात अत्यंत आवश्यक है कि अनिश्चय को अनिश्चय समझो निश्चय को निश्चय चारों बातों को दिमाग में रखे जलो दिन भर उस समय किसी दिन आपने प्रयोग कर लिया कुछ ही समय कर लिया तो आपकी स्थिति कितनी ऊंची होगी इतनी शांत होगी इतने कलेश रहित होंगे आप मन इंद्रिया कैसे अधिकार में होगी ये आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा यदि आप प्रयोग करके नहीं देखते तो कभी प्रत्यक्ष नहीं होगा इसी प्रकार से ईश्वर को स्वामी मानना अपना स्वामित्व हटा देना इसका प्रयोग आप कर करके नहीं देखेंगे तो आपके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ये अलग विषय है कि जो आप पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे वो अच्छा है पढ़ाएंगे वो अच्छा ही है वैदिक सिद्धांत का प्रचार करेंगे उसमें कोई मतभेद नहीं लेखन करेंगे वो अच्छा ही है ये सब अच्छे पर जिसके लिए ये शरीर मिला था या ईश्वर ने दिया था वो ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की बात तो बन ही नहीं पा रही आगे व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं पा रहा वो और नहीं इतना ही नहीं कई बार ऐसा रोग होता है जब तक इतना नहीं पड़ा था जब कम अभिमान था कम उसके अंदर ईर्षा द्वेष थे अब उसके अंदर विद्या बढ़ने पर विद्या का एक नया अभिमान उत्पन्न होता शब्दार्थ संबंध का वो बहुत अति आक्रमण कर जाता एक व्यक्ति कुछ अधिक अभिमानी थे बोलते बहुत अच्छा थे बुद्धि बहुत अच्छी थी और लोग सामने सप्ताह कम कहते जब बाय गाय देखते बातचीत होती उसको विद्या का बहुत अभिमान था ना तो वो कहते थे ये व्यक्ति कूपा होता बना घूम रहा है गुफे की तरह ये घूम रहा है गुप्पा बना पूरा इतना समझ दूसरे को कुछ भी नहीं बौद्धिक स्तर उसका अच्छा होने से वो दूसरे को नीच देखता है दूसरे को मूर्ख देखता है यद्यपि हमने ऐसे प्रयोग किए उस व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों को एक को ले लो कईयों को ले लो हमने समझाने का प्रयास नहीं हमको वो ऐसा मानता ये मूर्ख है दिखाता जाता भूला बचता जाए अब ये भयंकर अभिमान उसको शब्दार्थ का अभिमान कितना भयंकर है यदि वो ही व्यक्ति बुद्धिमान एक हो अनेक हो जितने भी आते हैं ये यदि मेरी बात भी सुन लेते तो इनका शब्दार्थ भी ठीक हो जाता ये बुद्धिमान भी वास्तव बन जाते इनकी योग में भी गति हो जाती पर वो कुछ भी तो नहीं हुआ पता नहीं कितने व्यक्ति ऐसे नहीं उसके दिमाग में शब्दार संबंध का इतना घमंड है इतना अभिमान है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार है उसमें दोष क्या रहता है यम नियमों का पालन न करना ईश्वर को लक्ष्य न बनाना प्रयोग करके न देखना जीवन का उद्देश्य क्या है इसको कुछ भी ध्यान नहीं देना वास्तव में ये मेरे पास में विद्या है धन है ये ईश्वर का दिया हुआ इसको न मानना ये सारी बातें उसमें विद्यमान रहती है इसलिए वो व्यक्ति कभी भी अपने स्तर को ऐसा नहीं बना पाता नहीं बना पाएगा नारद की कथा सुनी है आपने पढ़ते पढ़ाते हैं आप वो भाई मैं तो मंत्र भी अठारह विद्या का की चर्चा अठारह विद्याओं की बात आई उस व्यक्ति के दिमाग में एक बात दिखती है वास्तव में इतना अपनी मूर्खता को समझा विद्या और अविद्या का जो क्षेत्र है आप ध्यान दें कि वास्तव में हमारा मन वचन कर्म शोध प्रमाण वेद वेदानुकूल ऋषि ग्रंथों के अनुरूप है तो हम इतने अंश में विद्वान हैं शेष में हम ऐसी कसौटी रखो पता चलेगा कि कितनी मूर्खता हमारी क्या ईश्वर सभी प्राणी से प्रेम रखता कभी वैभाव भाव नहीं रखता सदा हित चाहता क्या हम ऐसा कर पाते हैं ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव जैसा है हमने कैसे बना नहीं बनाया तो हम बोल अज्ञान इस मापदंड को लेकर चलो आप अपने अज्ञान को हटा सकते दूर कर सकते कोई बाधा नहीं यदि आप ऐसा नहीं जानते नहीं मानते नहीं समझते तो आप कभी अपने अज्ञानता को अभी को हटा ही नहीं इसलिए सोचने विचारने का ढंग पद्धति जो आदतों की है ऋषियों की है उसको अपनाना उसको स्वीकार कर लेना चाहिए अपनी मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए ये वेद का ही तो संदेश आपके समक्ष है यह तन्ने वेद किम रीटा करी यदि जो ईश्वर को नहीं जानता प्राप्त नहीं करता वो रीटा पढ़ के क्या करेगा वो इसका अभिप्राय संकेत सब जगह लागू होगा वो विविध विद्याओं का विद्वान चाहे भौतिक विज्ञान वो बड़ा धनवान बन के भी क्या अपना भला कर पाएगा क्या क्या बलवान बन के क्या अपना भला कर पाएगा क्या बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बन के अपना इन सब में लागू होगा ऋचा तो एक संकेत है वेद आदि को पढ़ के वो क्या अपना भला करेगा नहीं कर सकता इसलिए ये जानना मानना चाहिए ये सृष्टि की रचना किसने की हम रचयिता के प्रति अपना व्यवहार कैसा बनाए कैसा छोड़े अपना स्वामित्व हटाए ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करें ईश्वर प्राप्ति को ही लक्ष्य मान के चलें और लक्ष्य न बनाए फिर जो जो उसमें विरोधी तत्व हैं किसी भी प्रकार का क्यों न हो ज्ञान कर्म उपासना उसका परित्याग हटाने में पूरा जोर लगाए अनुकूल ईश्वर प्राप्ति के जो जो ज्ञान कर्म उपासना है उनको लेने का पूरा प्रयास करें ऐसे हम करेंगे तो अपना जीवन सफल होगा हम समाज को देन दे जाएंगे बहुत कुछ कर जाएंगे इसलिए इन दोषों से कैसे बचे गुणों को कैसे जाए इसको समझते जाइए और इनका प्रयोग करते जाइए आप ग्रहण सिद्ध करने में जो तप त्याग परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए उद्यत रहना उसमें आने वाली कठिनाइयों को लौकिक जो स्वार्थ है व्यक्ति के मुख्य प्रयोजन प्राप्ति है उनको छोड़ देना जिस प्रकार से व्यक्ति अपने प्रयोजन की सिद्धि चाहता है उसी प्रकार से भी लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए उसको वो लक्ष्य बना लेता है जैसे अन्याय पूर्वक धन संपत्ति छीनना चोरी डाके आदि से धन संपत्ति लूटना उसको लूट करके खाना पीना इत्यादि यदि एक वर्ग की है दूसरा वर्ग व्यक्तियों में क्या करता है कि वह यद्यपि धर्म अधर्म को स्वीकार करता है और उसमें एक रूप में जानता है इसका उदाहरण ये संप्रदाय तीसरा वर्ग ऐसा है कि वह वेद वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथ इनको बहुत कुछ समझता है वह पढ़ता भी है पढ़ाता भी है लेखक भी है संस्थाओं का संचालक भी है परंतु वह ईश्वर प्राप्ति को मुख्य मान के नहीं चलता सिद्धांतों का जानना पढ़ना पढ़ाना लेखन करना संस्था चलाना ये सब उपयोगी है समाज के लिए लाभप्रद समाज देश की उन्नति के कारण है इसमें कोई मतभेद नहीं वेद वेदांत उपांग को पढ़ना पढ़ाना संस्थाओं गुरुकुलों विद्यालयों के माध्यम से विद्वान निर्मित करना लेखन अच्छे अच्छे कर्म का करना उपदेश वैदिक परंपरा के अनुसार देना सब उत्तम कार्य इनके रहते हुए भी व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने जीवन को निष्काम भावना से समर्पित नहीं नहीं करता कि मैं कलेशों से पिस कहीं भोग प्रधान होता है कहीं सम्मान प्रधान होता है कहीं उत्प्रेषणा उसकी प्रधान होती है इन बातों को वो पूरी करने के लिए प्रयास करता है जैसे जैसे इनको पूरी करने का प्रयास करता रहता है वैसे वैसे खींचते हैं इनके माध्यम से दृष्टा हुआ भी इस अनुभूति को वो नहीं देखता नहीं करता कि मैं अब पिछले चलते फिर रहा हूं उस समय अनेक कारण नहीं बना पाता उसके समक्ष लौकिक प्रयोजन साधन उपस्थित रहते हैं उनसे प्रभावित रहता है और वही व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है वही व्यक्ति विद्वानों से प्रभावित होता है वही व्यक्ति दुख कष्ट बाधाओं से प्रभावित होता है इस प्रकार की स्थितियों में वो प्रभावित होता रहता है इन कारणों से वो सत्य क्या है उसको मैं जानू उसके लिए ही मेरा जीवन है ऐसा नहीं कर पाता सत्य असत्य को जानने के लिए व्यक्ति जब उद्यत होता है उसको जानना चाहता है तो उसकी रूपरेखा उसकी स्थिति कैसी होती है वह मृत्यु जैसी चीजों को दूजे के भय को जीत लेता है जीने मरने की जो स्थितियां उनको पार कर देता है यदि ऐसी स्थिति वो नहीं बना पाता या नहीं बनाना चाहता तो वह मुख्य लक्ष्य ईश्वर को पाना उसको पूरा नहीं कर पाता से पता चलता है और वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने से पता चलता है कि जानने वाले व्यक्ति समझने वाले व्यक्ति इन आदर्शों को आपको सत्याग्रही नहीं मान सकती यद्यपि किन्हीं अंशों में सभी व्यक्ति सत्य को मानते सत्य को छोड़ते इस लक्ष्य को बना के रहने वाला इसको पहुंचने वाला व्यक्ति सभी प्रकार सभी क्षेत्र सभी अवस्थाओं में हर प्रत्येक रहित बनता है शक्तिशाली नहीं कर पाए सत्यग्राही नहीं रहता और असत्य त्यागी नहीं बन पाता यद्यपि झूल रूप में सिद्धांत प्राय व्यक्ति जैसा है यदि ये दो बातें पूरी नहीं होती तो व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है बेकार इन दो बातों की पूर्ति के लिए पूर्ण प्रयास नहीं कर अपना कर्तव्य नहीं निभा इसके लिए ही सर्वस्व की आहुति नहीं देता तो वास्तव में व्यक्ति अच्छा व्यक्ति ये ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला नहीं उनको वो जाने नहीं उनको वो दूर नहीं करे उनके दुरुस्त मतलब वो क्या करे ज्यादा हो चाहे वो विद्वान हो चाहे धनवान हो चाहे भगवान हो और चाहे योगाभ्यास की योजना हो योगाभ्यास के मतलब सीखा जीवन योग के अनुरूप प्रयास खुद से करते कुछ कर सीख रहे हैं अब इसको प्रयोग तो करने आते नहीं के उन लोगों को भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं हम योगाभ्यास समय वो सत्याग्रही बिल्कुल नहीं अपनी मान्यता अपना डॉक्टर वो अच्छा कई ऐसी मान्यता अपना डाले वो अपने आप को इस रूप में नहीं रखना चाहता डरता है और उसमें दृष्टि दोष भी है मैं ठीक करा कि मैंने ये जाना मैं ये मानता हूं मैं यहां तक पहुंचा आप मुझे बताएं कि ये ठीक है से नहीं मिलता अब ये जो स्थिति है ये क्यों ऐसी बन गई जैसा उसने कार्यक्रम बनाया इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता कि वो दुख से टूट गया हो और दुख को प्राप्त हो गया हो फिर भी वो उसी स्तर पर जा रहा अब दूसरे क्षेत्र में एक व्यक्ति साधना के लिए अलग से कोई समय का नहीं लगाता ठीक कर देता वो सामाजिक कार्य में व्यस्त रहता और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहते वह क्या देखता क्या मानता है वो ये देखता मानता है कि ये ये बातें मेरी ठीक नहीं ये मेरी मान्यता भी ठीक नहीं विशेष अंशों में ठीक नहीं करता कुछ अंश को जानता कुछ को नहीं जानता जानने वाले अंश को वो छोड़ने के लिए मिला शब्द प्रमाण की स्थिति उपाचित है पर वो उसको स्वीकार नहीं करता दो आदि कारण हमें विद्यमान रहे उनको जीतने में छोड़ने में जो परिश्रम करना पड़ता है السلام कठिन होगा यदि नींद तो नहीं आई आपको इस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही ये हम सबके और ये जो रूपरेखा उपस्थित की जा रही है क्योंकि जो उन्होंने वैज्ञानिक किया ठीक वो रूप दिखाई उस ढंग से हमको सोचना